वो कहेंगे हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे हमें पूरी तरह याद नहीं इसलिए जिन्होंने वक्त की गिनती की हो उनसे पूछ लीजिए